आठ किस्में हैं दो भेड़ से और दो बकरी से आप पूछें क्या अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को या वो बच्चा जिस पर उन दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं अगर तुम सच्चे हो तो मुझे किसी इल्म के साथ बताओ